होता नहीं होता नहीं होता भी नहीं ठीक है हम सहजता से व्यक्त कर रहे हैं माने हम सत्यता से संपन्न हैं इसीलिए आपने आगे लिखा है सहजता के बिना मानवीयता बोलो सहजता के बिना मानवीयता व्यक्त होना ही नहीं, नहीं हम यदि अपने में यदि स्वत्व संपन्न नहीं हो हाँ। ज्ञान स्वत्व क्या है चीज है ज्ञान ज्ञान अवस्था में मानव में सहजता क्या चीज है ज्ञान ज्ञान अवस्था में ज्ञान ही सहजता है ज्ञान होने के बाद ही मानवीयता होती है ज्ञान के पहले मानवीयता होती नहीं ये ज्ञान के बारे में यही माना गया अभी तक इसी बीसवीं शताब्दी तक पूरा होते तक ये ये ये सब माना गया जो पांच ज्ञानेन्द्रियों का ज्ञान होना ज्ञान है बोलिए साहब जो जीवों में भी है जो जीवों में भी है तो ज्ञानेन्द्रियों को तो- का तो निग्रह करने वाली बात भी कई कई जगह वो तो विरक्तिवाद विरक्तिवाद तो बोला विरक्तिवाद हुआ ये जो भौतिकवाद कहा इसी को पूजा करो क्या करे कौन कौन डिसाइड करेगा इसको दूध पिलाओ मकर ध्वज पिलाओ और क्या करें पूजा करो पाठ करो ये ये बताया ठीक है हाँ। और वो कहा कि इसको साइनाइड दो जहर दो सर्पविष दो और इसको मार डालो ये कहा एक तरफ तो तंदुरुस्त बनाने के हाँ, लिए कहा हाँ। एक तरफ मारने के लिए कहा हाँ। दोनों अतिवाद हुआ ऐसा मेरा स्वीकृति शायद इसके बारे में आप हम बात कर सकते है ना मेरे अनुसार ये दोनों अतिवाद हो गया इसीलिए परंपरा नहीं बनी